वो जिसको चाहता है दानाई अता कर देता है और जिसे दानाई अता हो गई उसे वाफिर मकदार में भलाई मिल गई और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक हैं